समझ आएगा मतलब ये प्रत्येक शब्द के उच्चारण के साथ उसके विषय में जो मन जाता है तुम वाणी के साथ उड़ के वहाँ मत जाओ जहाँ शब्द ले जाता है तुम ये देखो कि ये हमारे भीतर बोलने वाला कौन है बकता राम को जानो ना वाक्य राम को नहीं किसी से श्रोता दृष्टा मनता विज्ञाता जो सुन रहा है कानों के भीतर बैठ के जो देख रहा है आंखों के भीतर बैठ के जो सुन रहा है नाक के भीतर बैठ के जो स्वाद ले रहा है जिब्बा के भीतर बैठ के जो बोल रहा है वाणी के भीतर बैठ के उस अपने आप को जानो वक्तारण जिज्ञासी को वक्ता के बारे में जिज्ञासा करो वाचन नवी जिज्ञासी करो भिन्न भिन्न शब्दों की वाचक भिन्न भिन्न अर्थों के वाचक शब्द तुम्हें भिन्न भिन्न पदार्थों में ले जाएंगे उस बच्चा को दे, देखो जो जिहवा मूल में बैठकर जिहवा की जड़ में बैठ करके जिहवा को शक्ति प्रदान करता है बोलने परम आत्मा जो बुद्धि के मूल में बैठ करके बुद्धि को है ना शक्ति देता है देता है हाँ। बुद्धि ले लेती है अयम आत्मा ये आत्मा यह विषयान अस्थित जो जागृत काल में इंद्रियों के द्वारा मन के द्वारा विषयों का भोग करता है यपनावस्थायाम सर्वान विषयान आदत्ते जो स्वप्नावस्था में सारे विषयों का भीतर ही भीतर आदान कर लेता है यच्च सुसुप्त सुसुप्त अवस्थायाम व्यापनोति व्यापनोति सामान्य ज्ञान के साथ एक होकर संपूर्ण विश्व सृष्टि में व्याप्त हो जाता है जत्यास्त सांसंत को भावा जो देश काल वस्तु के परिच्छेद से परिच्छिन्न नहीं होता तम आत्मानम तो उस आत्मा के बारे में जिज्ञासा करो जानने की इच्छा करो तो अयम आत्मा है बिल्कुल साक्षात अप्रोक्ष तो साक्षात अप्रोक्ष का साक्षात किताब पढ़ने के लिए रोशनी की जरूरत है परंतु रोशनी देखने के लिए रोशनी की जरूरत नहीं है आंख की जरूरत है और आंख को जानने के लिए मन की जरूरत है मन को जानने के लिए बुद्धि की जरूरत है तो ये सब नारायण देखो स्वर्ग परोक्ष है पुस्तक प्रत्यक्ष है और अपने चित्त में जो मन है बुद्धि है राग है द्वेष है वो अपरोक्ष है सुसुप्ति होती है कहीं अपरोक्ष है अगर कोई आके तुमको युक्ति दे के समझाने लगे कि तुमको नींद नहीं आती है तो तुम उसकी युक्ति से मान लोगे क्योंकि नींद तो तुमको मालूम पड़ती है कि आती है तुमने देखा सपना किसी ने युक्ति दी कि नहीं नहीं तुमको सपना नहीं आया कोई डॉक्टर तुम्हारा ब्लड प्रेशर देख के तुम्हारी छाती पर वो अपना धनुष प्राण लगा के <laughs> होता है ना उसके पास एक ठंडा होता है ना गले में जो डाले देता है तो वो फंदा तुम्हारी छाती पर लगा के अगर वो कहे कि नहीं तुमको नींद नहीं आती तो कहे तुमको सपना नहीं आता बोले तुम्हारे मन में किसी से राग द्वेष नहीं है वो कहे कि तुमको स्वाद नहीं आता है किसी चीज का तो तुम कहोगे ना कि हमको खट्टा मीठा मालूम पड़ता है तो ये अपरोक्ष हुआ बोला अच्छा सुसुप्ति लेकिन तुम जो हो ना स्वाद तो मालूम पड़ता है जीव से इसमें एक औजार है रूप मालूम पड़ता है आंख से इसमें एक औजार है लेकिन तुम हो इस बात को जानने के लिए किसी औजार की जरूरत नहीं पड़ती है उसी को बोलते हैं साक्षात तो इसमें है न थर्मामीटर लगाने की जरूरत है धर्मामित्र गर्म मापक को गर्म मित्र को न इसके लिए वो फंदा लगाने की जरूरत है अरे भाई हम हैं ये बात यंत्र से नहीं मालूम पड़ती मन से नहीं मालूम पड़ती बुद्धि से नहीं मालूम पड़ती ये साक्षात अपरोक्ष है कौन का आत्मा इसके साथ अंतर और बहिर्देश का संबंध नहीं है इसके साथ काल का भूत भविष्य का संबंध नहीं है इसके साथ यह हुआ मैं तू के भेद का संबंध नहीं है अच्छा तो इसको जानोगे कैसे ठीक ऐसे ही जाना जाएगा वो दशमत्व मसी वो दस आदमी जैसे नदी पार करके अपने को गिनने लगे और इतने बोले कि सब नौ गिने और दसवा जो न गिने तो उसको जब किसी विश्वसनीय पुरुष ने कहा कि दसवा नदी में डूबा नहीं है तो विश्वास हुआ कि हाँ दसवा है और जब गिन के बता दिया कि दसवा तू ही है तो अपने को दसवा जान गया अगर वो दूरबीन से अपने को दसवें पुरुष को ढूंढता तो क्या दूरबीन से मिलता वो खुरबीन लगा के ढूंढने से मिलता कि नदी में कहा रह गया है नदी में जाल लगा के छानने से मिलता तो ये जो तत्वमसी महावाक्य हैं तत्वमसी आदि इनका अभिप्राय यही है कि तुम अपने को है तो मानते हो परंतु ये तुम्हारा है कितना बड़ा है ज्ञान स्वरूप ये तुम नहीं जानते हो इस भूल को मिटाने के लिए भी महाभारत की जरूरत होती है एक नारायण के संबंध में और भी बात है इसी ने कहा कि ये परमात्मा नहीं है परमात्मा का अंश है आप बिल्कुल इस बात को मानने से हिचको मत कई वेदांति लोग लड़ने लगते हैं कभी लड़ो मत उस आदमी से पूछो कि माना कि हम अंश हैं परमात्मा के परंतु जरा उस अंश की नाप तो बताओ वो परमात्मा का अंश कितना लंबा है कितना चौड़ा है कितनी उसकी उम्र है और कितना वजन है जरा उस परमात्मा के अंश को बताओ तो तो यदि परमात्मा का अंश एक अंश नाप लिया जाएगा ना तो परमात्मा को नापने में बड़ी सुविधा हो जाएगी हो वो परमात्मा का अंश ही नहीं नपेगा खुद परमात्मा ही नप जाएगा यदि परमात्मा के सौवें हिस्से को या लाखवें हिस्से को या करोड़वें को या अरबवें को तुम नाप लोगे ना कि ये इतना वजन और ये इतनी लंबाई चौड़ाई और इसकी इतनी उम्र तो उसका करोड़वा उसका अरबवा गुना अरब गुना उसका करोड़ गुना उसका अरब गुना अरब अरब गुना परमात्मा लंबा है और अरब अरब गुना उसकी उम्र है और अरब अरब गुना उसका वजन है माने परमात्मा ही मुट्ठी में आ गया वो तो नप गया परमात्मा परमात्मा की उम्र बन जाएगी परमात्मा का वजन बन जाएगा परमात्मा की लंबाई चौड़ाई बन जाएगी माने परमात्मा परिच्छिन्न हो जाएगा यदि परमात्मा का अंश परिच्छिन्न होता है तो परमात्मा भी परिच्छिन्न हो जाएगा इसलिए यदि कोई कहे कि तुम परमात्मा के अंश हो तो परमात्मा का अंश भी परमात्मा ही होता है अनंत का अंश भी अनंत ही होता है ये देखो ये जो परमा अनंत जिसको बोलते हैं ना अनंत वो किसी संख्या के जोड़ का नाम नहीं है वो एक होता है कुल सर्व और एक होता है अनंत तो जो सर्व होता है कुल होता है वो तो बहुतों का जोड़ होता है और जो अनंत होता है अपरिहित होता है आदेश होता है अकाल होता है वो बहुत से इंच फुट गजों के जोड़ का नाम देशातीत नहीं है अनंत नहीं है बहुत से क्षणों घंटों महीनों युगों मनवंतरों कल्पों के जोड़ का नाम अकाल पुरुष नहीं है अनंत नहीं है वो और बहुत से कणों के वजन का जोड़ का नाम ये माथे और तोले और छटाक और मन है ना और टन है ना इनके जोड़ का नाम परमात्मा नहीं है तो इसलिए यदि कोई परमात्मा का अंश भी है तो वो परमात्मा ही है क्योंकि परमात्मा का अंश अनंत का अंश भी अनंत होता है शांत का अंश शांत होता है और अनंत का अंश अनंत होता है इसलिए अयम आत्मा ये आत्मा ये युक्ति की बात बताई अगर कोई कहे कि हमको वेद की जरूरत नहीं उपनिषद की जरूरत नहीं गुरु की जरूरत नहीं हम अपने आप विवेक करते हैं और विवेक करके हम अनुभव करते हैं कि हम परमात्मा हैं पूर्ण है ब्रह्म है अच्छा ठीक है ये बहुत ध्यान देने लायक बात है छोड़ो वेद को छोड़ो गुरु को छोड़ो श्रद्धा को छोड़ो तो लकीर से फकीर है लकीर की फकीरी को छोड़ दो हम मानते हैं कि तुमने अपने विचार से अपने विवेक से पूर्ण सत्य का अनुभव कर दिया है अच्छा अब तुम अपने उस पूर्ण सत्य के अनुभव का उल्लेख करो उल्लेख करो माने जरा बोलो कि क्या अनुभव हुआ तुमको बोले कि ठीक नहीं बोल सकते अरे नहीं जानते हो इसलिए नहीं बोल सकते हो कि जानते हो और नहीं बोल सकते हो बोले नहीं जानते हो और नहीं बोल सकते तब तो अज्ञानी हो और, और जानते हो और नहीं बोल सकते हो हैं? तो तुम बोल के जीव से बोल के मत बताओ अपने मन में ही अपने अनुभव की एक रूपरेखा बनाओ हैं मत बोलो हम जीत पर करताला तुम्हारा मान रहे हैं तुम अपने मन मन में ही सोचो कि क्या अनुभव हुआ तुमको अपने अनुभव का उल्लेख करो तो यदि तुमको ये अनुभव हुआ कि एक मैं हूँ और एक दूसरा है, हैं? तब तो आधे तुम और आधा वो पूर्ण का अनुभव नहीं हुआ ना तुमको पहले हम पीछे वो हैं? तो पहले वो पीछे हम अधूरे हुए ना पूर्ण का अनुभव कहाँ हुआ यह और वह वहाँ वो और यहाँ मैं तो पूर्ण का अनुभव कहाँ हुआ तुमसे यदि ब्रह्म में तुम हो तो तुम कम ब्रह्म है और यदि तुम में ब्रह्म है तो ब्रह्म कम तुम हो ना अच्छा तो अपने अनुभव का उल्लेख करो अंत तो गत्वा अब अपने अनुभव को जब तुम नापोगे जांचोगे अपने मन में तो उसके उल्लेख का स्वरूप होगा अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ अर्थात मैं अद्वितीय अविनाशी परिपूर्ण है स्वयं चैतन्य हूँ अच्छा जब तुम्हारे अनुभव का उल्लेख यही हुआ माने जब तुमने किसी भी भाषा में तुम संस्कृत में मत सोचो अंग्रेजी में सोचो बोला कई लोग होते हैं अंग्रेजी में ही सोचते हैं ना दूसरी भाषा में सोच नहीं सकते तो किसी भी भाषा में सोच के तुम पूर्ण अनुभव का निरूपण अपने मन में करो वो तो मेरे सिवाय और कोई नहीं है मैं ही मैं सत्य हूँ अच्छा जब मेरे सिवाय सत्य है तो वो सत्य अधूरा है और यदि सत्य से अलग मैं हूँ तो मैं असत्य हूँ तो सत्य दो नहीं हो सकता ज्ञान दो नहीं हो सकता आनंद दो नहीं हो सकता नारायण तो अंत तो घटवा तुम्हारे अनुभव का स्वरूप ही यही होगा तो या तो तुम वैदिक मत में प्रविष्ट हो गए आ गए वही घूम फिर के हम ब्रह्म आदमी सबको मसीह अयम महात्मा ब्रह्म है या तो तुमने नवीन वेद का निर्माण किया है तो नवीन वेद का निर्माण क्या किया जब अपनी पूर्णता का ही उल्लेख किया तो नवीन वेद कहाँ से आया तो कहने का अभिप्राय ये कि दसमत स्वमसी इस वाक्य के श्रवण से जैसे अपना भ्रम मिट करके है ना अपने स्वरूप के संबंध में ही सच्चाई का ज्ञान होता है इसी प्रकार ये जमे वही सब तेन लभ्य में अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य न लभ्य ध्यान करो जाके प्रवचन शब्द का ध्यान करो तो कैसे तो प्रवचन जो करता है वो कुछ सोच विचार के करता है मूर्खता से तो करता नहीं है, है? मूर्ख की बात भला जिसकी जिसके बुद्धि में पहले वस्तु आरूप नहीं हुई वो प्रवचन क्या करेगा प्रोच्यते इसे प्रवचनाम प्रकृष्ट उक्ति का नाम प्रवचन है प्रकृष्ट उक्ति क्या है विपरीत अर्थ मिथ्या अर्थ का प्रतिपादन न करे तब न वो प्रवचन होगा तो जिसको सत्य अर्थ का ध्यान होगा वही प्रवचन करेगा तो निधि ध्यान करके आए और प्रवचन करने लगे बोले के निधि ध्यान से परमात्मा की उपलब्धि नहीं होती तो ध्यान से संस्कार बनता है देखो ध्यान करने वालों को एक को मत्स्याकार भगवान का दर्शन होगा एक को कच्चपाकार भगवान का दर्शन होगा एक को देवी एक को गणेश एक को सूर्य एक को विष्णु एक को शिव एक को राम एक को कृष्ण और तो ध्यान सहकृत ध्यान सहकृत ज्ञान जो है वो ध्यान के ध्येय के आकार को अपने अंदर पकड़ लेता है वो तो ध्यान जन्य संस्कार से केवल ध्येयाकार का साक्षात्कार होगा ध्यान से केवल ध्यान कर करके ध्यान कर करके इसका साक्षात्कार नहीं हो सकता प्रवचन से इसकी लब्धि नहीं हो सकते लब्धि माने उपलब्धि ज्ञान माने अज्ञान से ही आत्मा खोया हुआ है केवल ध्यान करने से इसका ज्ञान नहीं हो सकता बोले था मनन से हो गए न मेधया नहीं भाई मेधा भी ये मेधा दूसरे को काटने के लिए तो बहुत उपयुक्त है मेधा काटने के लिए होती है वो मेधा शब्द जो है ना संस्कृत भाषा में वैसे तो आप जानते ही होंगे कितने शब्द अश्वमेध अश्वमेध गोमेध नरमेध कहना है और मेधा माने बुद्धि होता है तो बुद्धि गाय को होती है कि जो अज्ञानांधकार का जाल चारों ओर फैला हुआ है ना उसको काट दे संस्कृत भाषा में मेधा बुद्धि के लिए बहुत सारे शब्द हैं बुद्धिर मनीषा भीषणा भी प्रज्ञा देमुषी मति तो ये मेधा शब्द जो है वो धीर धारणावती मेधा धारणा युक्त बुद्धि को मेधा बोलते हैं शास्त्र का श्रवण करते हैं और श्रवण करके धारण करते हैं एक बार महाराज पच्चीस तीस वर्ष पहले की बात है कर्पात्री जी महाराज का भाषण होता था धर्मशाला में मिर्जापुर वाली धर्मशाला ले रखी थी उस समय उन्होंने और बड़ा विशाल उत्सव किया तो आते थे हजारों आदमी सुनने के लिए जब निकलते तो बड़ी तारीफ करते बड़ी प्रशंसा करते और स्वामी जी ने बड़ा बढ़िया व्याख्यान दिया है क्या पूछना कितनी ऊंची बात है अब किसी से पूछो कि क्या कहा है उन्होंने तो कहते थे भाई वो बात बड़ी ऊंची थी बहुत बढ़िया थी पर हमारे समझने की थोड़ी थी है ना वो श्रोता लोग जो हैं हम देखो अभी एक चुटकुला बोल रहे हैं तो हमारे पास जाके लोग फिर हमको सुनाते हैं कि आज आपने ये बात कथा में कही थी अच्छा तो मेधा कहते हैं शास्त्रार्थ धारण का सामर्थ्य शास्त्र का जो तात्पर्य है ना उसको सुने और सुन के धारण कर लें तो उसको धारण करने से भी मेधा से भी आत्मा की प्राप्ति नहीं होती शास्त्रार्थ में मेधा काम देगी व्यापार में मेधा काम देगी राजनीति में मेधा काम देगी व्यावहारिक निपुणता में मेधा काम देगी ये कोई आत्मा बुद्धि का दाव पेंच नहीं है तो बहुना न बहुना श्रुते न बहुश्रुते न तो खूब सुनो खूब सुनो खूब सुनो तो इसमें तीनों बात हो गई हो बहुत श्रवण करने से या बहुत विचार करने से या निधिध्यासन पूर्वक बहुत प्रवचन करने से अयम आत्मा न लभ्या इस आत्मा का ज्ञान नहीं होता एक आदमी जो है वो व्याख्यान दे रहा कि आकाश की नीलिमा जो है वो कितनी गहरी है उसने सुना भी बहुत था और इसी नीलिमा के भीतर तो लोक पर लोक सारे पर सारे है ना और स्वर्ग लोक और ब्रह्म लोक सब इसी के भीतर निकल गए अब नीलिमा की गहराई पर व्याख्यान देना कितनी गहरी है आपको भी मालूम होगा शायद आप लोगों में से कई लोग नाप लें उसको हाँ, हमारा है ना वो नीलिमा की गहराई का ध्यान कर रहा था वो नीलिमा की गहराई के बारे में श्रवण कर रहा था अरे भाई गहराई तो है ही नहीं ना क्या सुन के आया एक आदमी औसत निकाल रहा था काय का तो मृग तृष्णा के जल का मरुस्थल में जो पानी मालूम पड़ता है है ना उसका उसकी उसकी औसत गहराई कोई निकाल रहा था तो ये नहीं निकल सकता नायम आत्मा प्रवचन न लभ्यो बात यह है कि सुन के भी उस शब्द का अर्थ हमको जितना मालूम है उतना ही समझते हैं जोड़ फोड़ करके और जितना संस्कार है प्रतिभा वहीं तक काम देती है और ध्यान लगने से एक प्रकार का संस्कार ही चित्र में बैठता है वस्तु का ठीक ठीक साक्षात्कार होने के लिए क्या होना चाहिए जमे वैश वृणुते से न सत्यैष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम हम लोग ये मेष की संक्रांति पर गए थे हरिद्वार एक बड़े बूढ़े महात्मा है वहाँ वृद्ध हैं विद्वान भी हैं वृद्ध वेदांताचार्य हैं पुराने जमाने के संभवतः व्याकरणाचार्य भी हैं वृद्ध हैं अभी शरीर सत्तर पचहत्तर वर्ष का होने पर भी बहुत दृढ़ है गौरव है ओ, तो हरी सभा में महाराज ललकार दिया उन्होंने बोले कि अच्छा कोई बता रहे कि आचार्यों में शंकराचार्य के सिवाय और किसी आचार्य ने उपनिषद पर व्याख्या क्यों नहीं की ऐसे हो बड़ी सभा ब्रह्मसूत्र पर तो व्याख्या सब करते हैं और ब्रह्मसूत्र तो सुर्खियों का ही तात्पर्य बताता है फिर पृथक से शब्द मंत्र सा किसी ने उपनिषद की व्याख्या क्यों नहीं की तो बोले कि भाई सब आचार्यों के मन में ये ख्याल था कि यदि श्रुति के सच्चे अर्थ को हम गड़बड़ाएंगे तो हमको बड़ा पाप लगेगा <laughs> ऐसे वो वृद्ध है वो वृद्ध महात्मा वो बोले कि जिसको ये अनुभव था कि हम श्रुति का सच्चा अर्थ प्रकट करते हैं उसने तो श्रुति के एक एक वाक्य का शब्द का प्रत्येक मंत्र का अर्थ करके बता दिया और जिनको डर था कि कहीं हमको श्रुति के अर्थ के साथ अन्याय करना पड़ेगा है ना उसने कहा कि चलो बाबा एक एक शब्द की व्याख्या के चक्कर में मत पड़ो तो जमे वही सब ऋणुते तेरल अयम आत्मा प्रवचने न लग जा वो न तो यमे वो एश वृणुते जब ये साधक एस साधक यमेव स्वात्मानमेव वृणुते प्रार्थय जब इस साधक के मन में एक आकांक्षा होती है कि केवल मैं ही मुझे मिलूं जमेव वृण होते किससे ब्याह करोगे भाई तो जहाँ बरमाला अपने ही गले में पड़ती है मैं जो भोग चाहेगा वो अपने गले में बरमाला कैसे डालेगा एक कन्या है वो उसको बरमाला डालना है किसी के गले में तो यदि उसको है ना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करना है गृहस्थ जीवन व्यतीत करना है वर वधु के रूप में रहना है तो तो वो पुरुष के गले में माला डालेगी ना बोले यहाँ तो ऐसा चाहिए साधा ऐसा चाहिए तो तू जो दूसरे के गले में बरमाला न डाले अपने ही गले में बरमाला डाले माने मैं मैं के साक्षात्कार के सिवाय और कुछ चाहता ही नहीं हूँ मैं केवल आत्मोपलब्धि चाहता हूँ हे भगवान तो तेन दरिद्रा लभ्य ऐसा विचित्र वरण करने वाला चाहिए ये ये ऐसी अद्भुत करना चाहिए जिसको दूसरे की जरूरत नहीं है जो अपने आप में ही रति अपने आप में ही तृप्ति अपने आप में ही तुष्टि चाहती है ये ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या किसको प्राप्त होती है ब्रह्म ज्ञान किसको प्राप्त होता है आत्मरति जिसको चाहिए आत्मतुष्टि जिसको चाहिए आत्मतृप्ति जिसको चाहिए जिसके ज्ञान का उल्लास स्वाभिमुख है पराभिमुख नहीं है जिसका ज्ञान अपने आप में नाचता है दूसरे को देख कर नहीं नाचता जिसकी जीव दही बड़ा देख कर नाच उठती है जिसकी नाक इत्र की गंध से नाच उठती है जिसकी आंख बाहर के सौंदर्य को देख करके नाच उठती है उसने तो उसके गले में बरमाला डाल दी ना ये आत्मा का साक्षात्कार उसको होता है इस साधक यमेव आत्मान वृणुते न पवित्रा स्वाभेदेन अयम आत्मा लधिया वो ग्रहण करने वाला अपने आप के रूप में इस आत्मदेव का साक्षात्कार करता है सो आत्मा से तनु स्वाम उसी का ही आत्मा है दूसरे का नहीं है बना और उसी के प्रति ये अपने तनु का विवरण करता है आत्मा अपने को ढक के बैठा है जब देखता है कि अपने आप के सिवाय और कोई नहीं चाहिए अपने आप के सिवाय और कोई नहीं है तब वो अपने को नग्न कर देता है निराधारण कर देता है दूसरे के सामने वो अपने को निराकरण नहीं करता है दूसरे के सामने वो अपने को नंगा नहीं करता है वो तो अपने सामने या स्वयं नंगा है नारायण तो परिषद में भी ये मंत्र आया है और यहाँ परिषद में भी आया है तो तरुण स्वाम का अर्थ है अपने वो अपने को नग्न कर देता है निराधरण कर देता है दूसरे के सामने वो अपने को निराधरण नहीं करता है दूसरे के सामने वो अपने को नंगा नहीं करता है वो तो अपने सामने ही स्वयं नंगा है नारायण तो परिषद में भी ये मंत्र आया है और यहाँ परिषद में भी आया है तो तरुण स्वाम का अर्थ है अपना जाथात्म्य अपना स्वरूप अपना पारमार्थिक स्वरूप सच्चा स्वरूप तो परिषद में सेन का अर्थ लिखा है वर्णेन और यहाँ कठो परिषद में सेन का अर्थ लिखा है परित्रा दोनों ही शंकर भाष्य हैं एक ही आचार्य के भाष्य हैं दोनों में फर्क क्या हुआ कि ये जो केवल आत्मवरण है मुझे मेरे स्वरूप ज्ञान के सिवाय और कुछ चाहिए ही नहीं ये जो अनात्म प्रत्यय का तिरस्कार करके नेति नेति करके स्वरूप साक्षात्कार में दृढ़ निष्ठा है इस निष्ठा से ही प्राप्त होता है तो वहाँ साधन का प्रसंग है वो वर्ण माने आत्मवरण की दृढ़ निष्ठा वहाँ साधन के प्रसंग में ये मंत्र आया है इसलिए वर्ण से प्राप्त होता है ये बात कही गई और यहाँ साधन के प्रसंग में नहीं है यहाँ आत्मा के निरूपण के प्रसंग में है तो इसलिए स्वयं सत्वम स्वयं लगदान अच्छा एक भक्ति की दृष्टि से एक बात ये देखो कि जिसको तुम ईश्वर कहते हो वो ईश्वर तुम्हारे इस साढ़े तीन हाथ के शरीर के भीतर है कि नहीं है हम पहले व्याकरण पढ़ते थे एक पंडित थे तो उनको ऐसा बोलने का अभ्यास था वो है कि नहीं एक एक बात बोलते बोलते है कि नहीं तो आप भी देखो कि आपके इस शरीर के भीतर आपका माना हुआ ईश्वर है कि नहीं जगत का कारण रूप ईश्वर है कि नहीं बनाने वाला ईश्वर इस शरीर के भीतर है कि नहीं आप यदि शरीर के भीतर नहीं है तो वो व्यापक नहीं है अच्छा उपादान नहीं है सर्वात्मा नहीं है, है? और शरीर ही नहीं है जीव शरीरी नहीं है देह शरीरी नहीं है तो भक्ति की दृष्टिकोण से भी परमात्मा हमारे शरीर के भीतर है अच्छा है भाई तो क्या है क्यों नहीं मिलता है तुमको अदृष्टम दृष्टि अश्रुतम श्रोत्री अमतम मंत्री अभिज्ञातम विज्ञात्री है वो सर्वेशा भूतानाम मधु वो पृथिव्याम पृथ्वी जमय वो जो पृथ्वी में रह करके पृथ्वी का नियमन करता है वो शरीर में रहकर शरीर का नियमन करता है वो चित्त में रहकर चित्त का नियमन करता है है ना अपने शरीर में वो अंतर्यामी वो मधु है वो अमृत आत्मा ये सते आत्मा अंतर्याम नमृता ये तुम्हारा अंतर्यामी अमृत आत्मा तुम्हारे शरीर के भीतर है कि नहीं है यदि है तो उसका दर्शन क्यों नहीं होता है तुम क्यों तुम इस मंदिर में विराजमान परमेश्वर को छोड़ करके है ना क्यों उसके लिए भटक रहे हो नहीं गृह तो निष्णतम बने मृगड़े घर में जब कोई चीज मौजूद हो वहीं खो गई हो तो उसको ढूंढने के लिए जंगल में तो कोई नहीं जाया करता क्यों तुम यहाँ रहने वाले अंतर्यामी ईश्वर को इस परम मधु को यहाँ छोड़कर अमृत को यहाँ छोड़कर आत्मा को यहाँ छोड़कर परम प्रेमास्पद को यहाँ छोड़कर क्यों बाहर ढूंढने जाते हो तो अंतर्यामी तया भी पर ब्रह्म परमात्मा नित्य प्राप्त ही होता है वो हमारी बुद्धि वृत्ति का जो योना प्रचोदया वो हमारी बुद्धि का प्रेरक है और यही मौजूद है तो नारायण ये महाराज ढूंढने वाले आश्चर्य ही कर देते हैं ना श्रीमद भागवत की टीका में एक दृष्टांत दिया है आत्मा पुनर्बहिर्मृज्ञा अहोग्य जनताज्ञता देखो पढ़े लिखे लोग क्या मूर्खता करते हैं श्लोककार कहते अहो ज्ञा जनता ज्ञता ये ज्ञ जनता की ज्ञानी जनता की यज्ञता देखो ये पठित है ये शिक्षितों की मूर्खता देखो क्या देखो है ना स्वाम आत्मान परम मतवा परम आत्मान में तुम अपने आत्मा हो उसको तुम मान लिया कि कहीं दूर है, है? और ये देह आदि जो आत्मा नहीं है इनको मान लिया कि आत्मा है और फिर निकले ढूंढने के हम परमेश्वर को ढूंढते हैं हाँ एक बुढ़िया माई एक दिन रात में सड़क पर है ना रोशनी में कुछ ढूंढ रही थी एक ने पूछा मैं माई क्या ढूंढ रही हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं थोड़ी क्या ढूंढती हो और बोली कि बेटा सुई खो गई है तो ढूंढ रही हूँ बोले कहाँ खोई थी बताओ हम मदद करें बोले खोई तो घर में थी तो बेरे तो वहाँ ढूंढना चाहिए ना अरे यहाँ क्यों आई तो बोली वहाँ बेटा अंधेरा था यहाँ सड़क पर रोशनी है इसलिए यहाँ ढूंढने चली आई तो ये परमेश्वर को ढूंढने वाले लोग मरा है ना भीतर तो अंधेरा मालूम पड़ता है है ना और बाहर सूरज की रोशनी में ढूंढने जाते हैं अहोग्य जनता आज्ञता है ना दुख है आया ऐसे जैसे बोलते हैं शर्म शर्म हाँ। हमने अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को सेम सेम बोलते सुना नारायण तो शर्म शर्म की बात है ये कि परमेश्वर बैठा है हमारे दिल में हैं? और हम भटक रहे हैं उसको ढूंढने के लिए उसको लिए लिए भटक रहे हैं उसको भी भटका रहे हैं उसको लिए लिए भटक रहे हैं गले में बांध लिया ग्राम को ग्राम को तो गले में बांध रखा है और ढूंढने जा रहे हैं नेपाल में तो जब मैं वही सब रणुते प्रेम अभियान एस आत्मा अयम आत्मा ब्रह्म एस आत्मा अंतर्यामी द्वारा जे अंतर्यामी द्वारा यमे व साधकम वृणुते है ना अंतर्यामी प्रेरणा ये आत्मा बुद्धि में बैठ करके अंतर्यामी बन जाता है और प्रेरणा करता है तो जिसकी निर्मल बुद्धि में आ करके ये आत्मदेव अंतर्यामी के रूप में प्रेरणा करते हैं अरे बाबा तू काहे को बाहर ढूंढता है जरा भीतर देखना ये लोग चलते फिरते परमात्मा को नहीं देखते हो है ना हे भगवान परमात्मा बोलता है परमात्मा हंसता है परमात्मा चलता है है ना नहीं आचार्य द्वारा जमे वैश्य व्रण है एस आचार्य द्वारा जमे व्रण है जिसके ऊपर अपने को प्रकट करना होता है उसके सामने गुरु बन के लिया जाता है आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम विनक्ष परमात्मा अपने को दो तरह से जाहिर करता है एक तो गुरु के द्वारा जाहिर करता है दसमा सोमसी तू दसमा पुरुष है और एक चैत्य और हम दसमो उसमें मैं दसवा हूं जो तुमको बताता है कि तुम ब्रह्म हो उसके द्वारा परमात्मा तुम्हारे सामने अपने को प्रकट कर रहा है एक तो परमात्मा के वो जमे वही सुब्रम से एक आचार्य हाँ, यमे वो साधकम वृणुते आओ आओ शिष्य हम तुम्हारा अज्ञान रहे दें जो मैं सो तुम हाँ। गुरु कहता है जो मैं सो तुम और शिष्य कहता है कि बाबा ये दरिद्र और मैं धनी कहीं मैं तुम करके ये हमारा पार्टनर न बन जाए है ना हिस्सेदार न बन जाए हमारे पैसे में है ना ये चेले नहीं है वो चेले हैं हाँ। तो हमको एक आचा एक दो गति है आचार्य बपुषा चैत्य बपुषा को स्वगतिम विनक्ति आचार्य के रूप में आके बोला कि तू वही है ये देखो जो शरणागति के संप्रदाय है ना उनमें भी केवल ज्ञान ही मानते हैं वो हाँ। स्वस्व परत्व स्व तत्व क्या है और पर तत्व क्या है नियम में क्या है नियमता क्या है भोग क्या है भोक्ता क्या है आश्रित क्या है आश्रय क्या है है ना ये शरीर क्या है शरीर क्या है केवल इसके ज्ञान को ही शरणागति मानते हैं तो आचार्य जो है वो इसको प्रकट कर देता है और अपने हृदय में ये दृढ़ निश्चय हो जाए विचार के द्वारा निश्चय होए श्रद्धा के द्वारा निश्चय होए वेद शास्त्र आदि पुराणों के द्वारा निश्चय होए क्योंकि ये स्थूल भौतिक यंत्र के द्वारा इसका निश्चय नहीं हो सकता यहाँ तक कि समाधि के द्वारा भी इसका निश्चय नहीं हो सकता इसका कारण ये है कि अपने जो संस्कार है ना देखो समाधि में तो कुछ मालूम नहीं पड़ता और उठते हैं तो फिर वही माँ माँ मा, मालूम पड़ती है वही बेटा बेटा मालूम पड़ता है वही तिजोरी तिजोरी मालूम पड़ती है और वही कल का अपना कल का मालूम पड़ता है तो संस्कार सारे के सारे समाधि में शांत हो जाते हैं और समाधि उसे उठने पर वे सब के सब जागृत हो जाते हैं इसलिए समाधि से उठने के बाद अपने संस्कारों से अतिरिक्त और कुछ नहीं वो तो जरा दब गया था थोड़ी देर के लिए तो वो सत्य जिस पर संस्कार का हमारे असर न हो गए हमारे विकार का भी असर न हो गए और जिसके लिए कोई प्रकार भेद भी अपेक्षित न हो गए वो संस्कार विकार प्रकार के भेद से आकार के भेद से आकार भेद संस्कार भेद विकार भेद और प्रकार भेद ये चारों भेद प्रकृति के राज्य में हैं परमात्मा के राज्य में आकार विकार संस्कार प्रकार ये चारों नहीं है तो बाबा चैत्य बकुशा हृदय में प्रकट होकर के बोल रहे कि ये मैं हूँ अथवा ग्रुप के रूप से प्रकट होके बोल रहे कि ये तू है, हैं? अंतर्यामी के द्वारा प्रेरित करे स्वयं आदरभूत हो जाए ये आत्मा अपने शरीर को प्रकट करते ही उसके सामने है और सत्य आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम विवरण करना विवरण करना माने खुलासा करना अब हम इस मंत्र का विवरण करते हैं विवरण करते हैं माने खुलासा करते हैं श्री कृष्णाय नमः तो विवरण करने का अर्थ होता है निरावरण करना निरावरण बी माने विगत और वरण माने आवरण विवरण माने विगतावरण आवरण रहित कर देना अब ये बताओ कैसी साधक को परमात्मा की प्राप्ति होती है हमारे अंदर क्या होना चाहिए ना विरतो दुष्चरिता ना ना ना शांतो नाशान्तो नासमाहितः नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमात्मजा अब कहते हैं कि चाहे शास्त्र की जानकारी कितनी भी हो केवल न प्रज्ञान एनम न आत्मयात केवल जानकारी से ये नहीं मिलता है उसके साथ साथ साधक में कुछ और होना चाहिए अच्छा आप देखो परमात्मा बेईमानी से नहीं मिल सकता तो दूसरी बात बताते हैं परमात्मा ईमानदारी से नहीं मिल सकता ऐसा परमात्मा दान से नहीं मिल सकता बोले भाई ये क्या बात हुई ये लोग तो नारायण है ना तो देखो जो बेईमानी करता है वो धन को कीमती समझता है कि नहीं धन को अगर बहुत कीमती न समझता तो वो अन्याय से झूठ से है ना ठगी करके धोखा दे के दूसरे को अपने दिल को बिगाड़ के धन को क्यों चाहता दिल को बिगाड़ता है और धन को बनाता है वो तो बीमान है ना अच्छा तो उसके मन में कीमत किसकी है धन की है कि दिल की है, है? अच्छा देखो बड़ी भारी ईमानदारी बरत रहा है काहे के लिए बोले धन कमाने के लिए तो उसके मन में धन की कीमत है कि नहीं है उसके मन में भी धन की वही कीमत है ना तो एक आदमी दूसरे को दे करके खूब परोपकारी बन रहा है उसके मन में क्या है कीमत धन की है जब कीमत धन में नहीं रहेगी कीमत परमात्मा में होगी है ना कीमती चीज परमात्मा है कीमती चीज धन नहीं देने वाला किसी को पांच रुपया देता है तो कहता है कि हमने तुमको पहाड़ से दबा दिया पहाड़ से दबा दिया मानो पैसे को पहाड़ समझता है तो हम बम्बई में ये बात नहीं कहते हैं बोला तो बम्बई में क्यों नहीं कहते हैं कि यहाँ तो लोग कह देंगे कि महाराज अपने परमात्मा को तुम अपने पास रखो आ, हम तो अपना पैसा ही चाहते हैं है ना तो कहे हे भगवान तुम थोड़ी देर बैकुंठ में विश्राम करो हैं कहे गुरुदेव तुम थोड़ी देर के लिए समाधि लगा लो तुम्हें इधर ध्यान देने की क्या जरूरत है, है? कहे मनी राम अब थोड़ी देर के लिए तुम है ना लग जाओ इसी में वो कहते हैं महाराज हमारे बाल बच्चे हमारे पैसे हमारे मकान हमारी इज्जत हमारा नाम है ना तो बाबा ये जो अनात्मा में महत्व बुद्धि है ना हम जो बात कह रहे हैं उस पर आप ध्यान दो हम आपको पैसा छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं पुत्र मकान छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं लेकिन आपकी महत्व बुद्धि कहाँ है महत्व बुद्धि परमेश्वर में है कि महत्व बुद्धि सांसारिक पदार्थ में है तो जब तक महत्व बुद्धि जो है अन्य पदार्थ में रहेगी तब तक कैसे परमात्मा की ओर चलना होगा अब ये प्रसंग हम आपको कल हैं आज ये देखो हेमलता वो सूचना देने की